लोकपालों में वह चौथा होगा अविनाशी और यक्षों का स्वामी हुआ आगे वही यशिष्ठ कुंडधार हुआ उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता-पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बैठकर बड़ी भारी तपस्या की जब दीर्घकाल के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले वत्स तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो पुंडधार बोला देव यह तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो तथा है वस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर ध्यान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को चले गए इस प्रकार तदंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त हो वहाँ कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया विविध उपचारों के साथ शिवलिंगों का पूजन और अनंत अन्न आदि पान आदि तथा वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट करने के पश्चात वह अपने घर को लौट गया तब वे वह तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलीश्वर के नाम से विख्यात हुआ युधिष्ठर जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता वह सब पाप से मुक्त हो जाता उन तीर्थों में स्नान करके जो ब्राह्मण रंगवेद अजुर्वेद और सामवेद की एक एक ऋचा का भी पाठ करता उसे चारों वैदिक पाठ का फल प्राप्त होता है जो मनुष्य वहाँ ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्नदान करता उस गो उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है पिपलेश्वर विमलेश्वर विश्वरूपा नर्मदा संगम तथा एक दिन में मेघनादेश्वर एवं पांच लिंगों की यात्रा का महत्व राजा धर्मसेन की कथा मार्कंडे जी कहते हैं नर्मदा के तट पर पिपलाद नामक एक मुनि थे वे माता पिता से रहित थे उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर एकाचित हो पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया तब महादेव जी बोले ब्राह्मण मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ तुम मनोवांछित वर मांगो तब प्रहलाद ने बोले देव आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे निवास करो पीपला देव के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी को वहीं अंतर ध्यान हुए उनके चले जाने पर जाने पर उनके चले जाने पर पिपलाद ने नर्मदा की महाजल राशि में स्नान किया और भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत पर चले गए जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं महेश्वर का पूजन करता है अश्वमेध देव का उत्तम फल पाता है पिपलेश्वर समय पुजिस की मृत्यु हो वह भगवान शिव के धाम में जाता पिपलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के लिए उस हिस्से से जो ब्राह्मणों को भोजन करता उसके पितर बारह हजार वर्षों तक पितृत्व रहते हैं तथा उत्तम गति को प्राप्त होते हैं राजेंद्र तदंतर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ की विमलेश्वर तीर्थ को जाए जहाँ एक मनोहर देवशिला जहाँ गर्जन और खेटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है वहीं वही उत्तम देवशिला भी है जो मनुष्य मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करते एवं देवताओं और पितरों का तर्पण करते उसके पितर ग्रहण वर्षों तक तृप्त होते हैं देवलोक में देवलोक में आनंद भोगते हैं जो देवशिलाओं में तीर्थ भक्तिभाव से थोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों को सत्कार करता उसके पुण्य के फल का अंत नहीं है युधिष्ठिर तदंतर नर्मदा के उत्तर भाग में तट की यात्रा करे मेघनाथ तीर्थ के समीप जाए सरिताओं में श्रेष्ठ सरिताओं में श्रेष्ठ विद्या रूप नदी बहती है एक समय वह नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर का स्थापन करते हुए विश्व रूप हुए तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में श्रेष्ठ विश्व रूपा प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई दोनों का संगम बड़ा ही भगवान था जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर अपना स्नान करता वह विश्व फिर इसे इस संसार में जन्म ले लेता वहाँ जो कर्म किया जाता वह सब अक्षय होता है उन तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध यज्ञ और शिव पूजन तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध एवं होता है अक्षय होता है उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही अक्षय होता है कोटि गुना फल देने वाला होता है वहाँ पांच शिवलिंग प्रसिद्ध है मेघनाथों के गोष्ठेश्वर वागीश्वर काकेश्वर और लक्ष्येश्वर जो इन पांचों लिंगों का ही दिन में पूजन करता वह इसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता और मोक्ष का भागी होता है पूर्व काल में अयोध्यापुर में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया तथा भूसी दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया एक समय धर्म शास्त्र सुनते हुए राजा ने नर्मदा नदी का चरित्र सुना सुनकर वे नर्मदा के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनाथेश्वर का पूजन किया तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो गए वे उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे गोष्ठेश्वर विधि पूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन वागीश्वर तीर्थ में गए वहां विधि पूर्वक स्नान करके चंदन अगर कपूर और धूप दीप आदि विद्वानों से विधाओं से विधानों से शिव की पूजा संपन्न करके पुनः घोड़े पर सवार हो गए श्रेष्ठ राजा काकडेश्वर में आए काकडेश्वर की पूजा करके वे लक्षेश्वर तीर्थ में गए और वहाँ नर्मदा के जल में स्थित लक्षेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाथ तीर्थ में लौट गए इतने में सूर्यास्त हो गया उस समय काल रूपधारी भगवान शिव का ध्यान करते हुए राजा धर्मसेन जो ही घोड़े से उतरकर खड़े हुए तो ही वह दिव्य शरीर धारण करके इंद्र के विमान में जा बैठे और इंद्रलोक को जला दिया गया राजा के पीछे पीछे एक पुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया यह सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व अश्व से पूछा यह सब क्या है तब उसने आकाश से उतर दिया उत्तर दिया राजन आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या दिव्य विभूतियों की विभूतियों को प्राप्त होती है विभूतियां ही प्राप्त होती है अभी तक तो आपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है अब पैदल जाइए जब पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन दिन उन्हें लिंग पूजा के लिए प्रस्थान किया उन पांचों लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया तब द्वापर में ही उन भगवान शिव का दर्शन किया उनके पांच मुख हैं दस भुजाएं और प्रत्येक मुख पर तीन-तीन नेत्र हैं हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था संसार मार्ग में तथा संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ हो गए उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था उन देव देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की देव महादेव आपकी जय हो महापातकों का नाश करने वाले जीव में संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ आप इस समय मेरा उद्धार कीजिए महादेव जी बोले महाभाग तुम मेरे भक्त हो अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा राजा ने कहा देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपने साथ रखने वाले रहने वाले सेवक बना लीजिए और जो लोग एक दिन में इन पांचों लिंगों का पूजन करें वह सभी पापों के अनुसार हो यही मेरे लिए वर मांगे धर्मसेन की बात सुनकर महादेवी ने अहम वस्तु कहा उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए युधिष्ठर भगवान शिव ने राजा भीमसेन को अपने आप में लीन कर दिया ब्रकंड आश्रम में दो गंधर्वों का उद्धार तथा चंद्रमती नर्मदा संगम आदि अन्य तीर्थों की महिमा मरकंडे जी कहते हैं युधिष्ठर ना नर्मदा के दक्षिण तट पर मरकंड मुनि का पवित्र आश्रम है उसमें परम धर्मात्मा मेरे पिता मरकंड जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की है उनके आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से अन्य महर्षि भी निवास करते थे इसी समय हेती और प्रहेती नाम वाले दो गंधर्व इंद्र की सभा में गए वहां इन्होंने एक श्रेष्ठ अप्सराओं को देखा देखते ही वे दोनों काम बाढ़ से पीड़ित हो गए